यकीनन तुम में से जो लोग उस दिन पीठ फेर गए जब दो जमातों का बाहमी तसादुम हुआ यकीनन उन्हें शैतान ही ने उनके पास आमाल की वजह से फिसला दिया था और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उन्हें यकीनन माफ़ कर दिया है बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत बुर्दबार है